है तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो तस्य धीमहि धियो यो नाह प्रचोदयात् अब गायत्री मंत्र के भाव को कविता के रूप में उपस्थित किया जाता है तूने हमें उत्पन्न किया पालन कर रहा है तू तुझसे ही पाते प्राण हम दुखियों के कष्ट हर तू तेरा महा ज्ञान तेज है छाया हुआ सभी स्थान तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान तेरा ही धर ते ध्यान हम मांगते तेरी दया तेरा ही धर ते ध्यान हम मांगते तेरी दया ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला ये गायत्री मंत्र के माध्यम से ईश्वर की भक्ति है अब आप समझने का प्रयास करेंगे ईश्वर की भक्ति भजनों के माध्यम से होती है और भजन के अंदर ये संकेत है हे व्यक्ति हे मनुष्य तू ईश्वर से संग जोड़ ईश्वर से प्रेम कर ईश्वर की उपासना कर और विषयों विषय भोगों का परित्याग कर दे ईश्वर से संग जोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ विषयों से संग विषयों से मुख मोड़ मानव विषयों से मुख मोर प्रात सायं संध्या कर ले वेद ज्ञान जीवन में भर ले प्रात सायं संध्या कर ले वेद ज्ञान जीवन में भर ले शुभ कर्मों को न छोड़ मानव ईश्वर से संग जो शुभ कर्मों को न छोड़ मानव ईश्वर से जो जिससे मानव पाप कमाता जन्म मरण बंधन में आता जिससे मानव पाप कमाता जन्म मरण बंधन में आता उस बाधक को तोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ उस बाधक को तोड़ मानव ईश्वर से संजोड़ केवल धन संचय में रहना विषय भोग सागर में बहना केवल धन संचय में रहना विषय भोग सागर में बहना यह अंधों की दौड़ मानव ईश्वर से संजो यह अंधों की दौड़ मानव कि ईश्वर से संजो विन ईश्वर के जाने माने दूध और पानी के न छाने विन ईश्वर के जाने माने दूध और पानी के न छाने वृथा यतन करोड़ मानव ईश्वर से संजो वृथा यतन करोड़ मानव ईश्वर से संजोड़ विद्या का नाश किया कर सदा ईश संवास किया करे विद्या का नाश किया कर सदा ईश संगवास किया करे छोड़ जगत की होड़ मानव ईश्वर से संजोड़ छोड़ जगत की होड़ मानव ईश्वर से संजोड़ यम कर ले छोड़ उदासी जन्म जन्म की पाप की राशि उद्यम कर ले छोड़ उदासी जन्म जन्म की पाप की राशि पाप कलश को फोड़ मानव ईश्वर से संजो पाप कलश को फोड़ मानव ईश्वर से संजो क्यों फिरता है तू मारा मारा ईश्वर काले पकड़ सहारा क्यों फिरता है तू मारा मारा ईश्वर काले पकड़ सहारा यह एक ने चोड़ मानव ईश्वर से संजो यह एक ने चोड़ मानव ईश्वर से संजोड़ विषयों से मुख मोड़ मानव विषयों से मुख मोड़ ईश्वर भक्ति मैं व्यक्ति को ईश्वर की ओर अपना प्रेम श्रद्धा और जीवन को झुकाना चाहिए और विषय भोगों से विमुख रहना चाहिए अब आपके समक्ष ईश्वर भक्ति का भजन रखा जाता है कि व्यक्ति दैनिक जीवन में प्राय वह संसार की चीजों से बहुत प्रेम करता है अति करता है और ईश्वर का प्रेम छूट जाता है परिणाम उसको दुख भोगने पड़ते हैं यदि दुख से छूटना चाहता है व्यक्ति तो परमात्मा से उसको प्रेम करना चाहिए प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर दम आनंद ही आनंद है प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर दम आनंद ही आनंद है झूठी ममता से करके किनारा लेके सच्चे प्रभु का सहारा जो उसकी रजा में रजा मंद है उसे हर दम आनंद ही आनंद है प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर दम आनंद ही आनंद है जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है जिसकी करनी में फूलों सी महक है प्रेम नरमी ही जिसकी सुगंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर दम आनंद ही आनंद है निंदा चुगली ने जिसको सुहावी बुरी संगत की रंगत ने भावी सत संगत ही जिसको पसंद है उसको हर दम आनंद ही आनंद है प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर दम आनंद ही आनंद है दीन दुखियों का जो दुख मेटाए बन के सेवक भला सबका चाहे नहीं जिसमें घमंड और पाखंड है उसे हर दम आनंद ही आनंद है प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है ईश्वर से प्रभु से जो संबंध जोड़ लेता है उसको दिन भर आनंद की उपलब्धि प्राप्ति होती रहती है दैनिक अच्छे काम करते हुए शुभ कामों को करते हुए ईश्वर का प्रेम नहीं छोड़ना चाहिए इससे व्यक्ति कृत कृत्य हो जाता है यही जीवन का सार है अब आगे आप समझने का प्रयास करेंगे ईश्वर को ढूंढने के लिए व्यक्ति इधर उधर घूमता है परंतु ईश्वर सर्वव्यापक है ऐसा जान के ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए तो ढूंढने का स्थान हमारे शरीर में ही है नहीं आज तक किसी ने तेरा मुकाम पाया हर जाप जाके देखा तू कहीं नजर न आया नहीं आज तक किसी ने ये चांद और सितारे हर दम ये कह रहे हैं ये चांद और सितारे हर दम ये कह रहे हैं हर शय में तेरा जलवा हर दिल में तू समाया नहीं आज तक किसी ने जो दर पर तेरे पहुंचा चमका वो आसमां पर जो दर पर तेरे पहुंचा चमका वो आसमां पर जिसने किया तकबर वह खाख में मिलाया नहीं आज तक किसी ने जब सिर पर हो मुसीबत चलता है फिर पता यह जब सिर पर हो मुसीबत चलता है फिर पता यह जग में है कौन अपना और कौन है पराया नहीं आज तक किसी ने उस हाल में रहे हम जिसमें तेरी रजा है उस हाल में रहे हम जिसमें तेरी रजा है होकर रहा पथिक वह जो भी है तुझको भाया नहीं आज तक किसी ने तेरा मुकाम पाया हर जाप जाके देखा तू कई नजर न आया नहीं आज तक किसी ने ईश्वर प्रणिधान ईश्वर समर्पण ईश्वर के समक्ष अपने कर्मों को उपस्थित कर देना और उनका लौकिक फल न चाहना ये ईश्वर प्रणिधान है ईश्वर आज्ञा अनुसार आचरण करना और ईश्वर की भक्ति करना इस रूप में पहुंचने के लिए व्यक्ति भजन में बोलता है अपने असामर्थ्य को दिखाता है और किस काम पकड़ू सहारा और किस काम पकड़ू सहारा स्वामी तेरे सिवा कोई नहीं है और किस मैं पकड़ू सहारा स्वामी तेरे सिवा कोई नहीं है और किस काम पकड़ू सहारा जिंदगी को मैं खोता रहायूं गफलत में मैं सोता रहायूं जिंदगी को मैं खोता रहायूं गफलत में मैं सोता रहायूं कितनी गुजरी है दिन और रातें कितनी गुजरी है दिन और रातें नींद आंखों से धोई नहीं है और किस का मैं पकड़ू सहारा और किस काम पकड़ू सहारा स्वामी तेरे सिवा कोई नहीं है और किस काम पकड़ू सहारा और किस काम पकड़ू सहारा ठुकराया हूँ सारे जहाँ का अब मैं यहाँ का रहा न वहाँ का ठुकराया हूँ सारे जहाँ का अब मैं यहाँ का रहा न वहाँ का अब तो जिंदगी है तेरे हवाले अब तो जिंदगी है तेरे हवाले तेरे दर का भिखारी यही है और किस का मैं पकड़ू सहारा और किस काम पकड़ू सहारा स्वामी तेरे सिवा कोई नहीं है और किस काम पकड़ू सहारा और किस काम पकड़ू सहारा तुझसा दानी नहीं है जहां में मांगने को फिर जाऊं कहां मैं तुझसा दानी नहीं है जहां में मांगने को फिर जाऊं कहा मैं जिसने पकड़ा है आश्रय तुम्हारा जिसने पकड़ा है आश्रय तुम्हारा उसकी किस्मत फिर सोई नहीं है और किसे काम पकड़ू सहारा और किसे काम पकड़ू सहारा स्वामी तेरे सिवा कोई नहीं है और किसे काम पकड़ू सहारा और किसे काम पकड़ू सहारा दे दो थोड़ा अनल को सहारा इसको भी मिल जाएगा किनारा दे दो थोड़ा अनल को सहारा इसको भी मिल जाएगा किनारा सौंप दी जिसने तुमको सफीना सफीना नाव सौंप दी जिसने तुमको सफीना वह तुमने डबोई नहीं है और किस काम पकड़ू सहारा और किस काम पकड़ू सहारा स्वामी तेरे सिवा कोई नहीं है और किस काम पर करू सहारा और किस काम पर करू सहारा ईश्वर का सहारा लेने पर ईश्वर को अपना सब कुछ मानने पर व्यक्ति उस समय ईश्वर की कृपा होती है ईश्वर उसको बुद्धि विद्या प्रदान करता है ये ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं मांगते हैं पहले उत्तम कर्मों को करने का प्रयास करो दोषों को दूर करने का प्रयास करो फिर भी अच्छे काम सिद्ध नहीं होते उसके पश्चात शुभ कार्यों की सिद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो ओ मैं सुख कंद से सचिदानंद से या चैना है से ये पथ पर चलू कामना है ओम सुख कंद से सचिदानंद से याचना है से ये पथ पर चलू कामना है कित कुकर्मों की जब याद आती आंखें हैं धारा बहाती कृत कुकर्मों की जब याद आती आंखें हैं धारा बहाती मन में संताप की घोर अनुताप की वेदना है से ये पथ पर चलू कामना है पाया नर्तन ने पर साधना की कुछ भी न ईश आराधना की पाया नर तनन पर साधना की कुछ भी नहीं से आराधना की मन में तृष्णा भरी काम मद लोभ की वासना है से ये पथ पर चलूं कामना है भक्त जन की सोनो करुण कविता विश्व दुरितों की हे देव सविता भक्त जन की सोनो करुण कविता विश्व दुरितों की हे देव सविता दूर कर दीजिए भद्र भर दीजिए भावना है से ये पथ पर चलू कामना है स्वस्ति पंथा मनुचरे मम भगवन सूर्य अरुचंद्र के तुल्य भगवन स्वस्ति में अनुचरे में वेद मंत्र स्वस्ति पंथा मनुचरे मघवन सूर्य अरुचंद्र के तुल्य भगवन दान दू जान दू अघनता बन रहू प्रार्थना है से ये पथ पर चलू कामना है ले चलो सत्य पथ